नमस्कार मित्रों ये जो कुछ क्वेश्चंस आए थे मुझे फेसबुक पे आ, कि अन्ना और अरविंद गांधी के बीच जो अनबन है मतलब पहले जितना आ, एक दूसरे के क्लोज नहीं है पहले टीम अन्ना थी आज से दो साल पहले तीन दो ढाई साल पहले टीम अन्ना और एक परिवार की तरह मिलजुल के रहते थे हमेशा साथ ग्रुप फोटो आती थी वो अब कम हो गया है तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आए थे तो मैंने अलग-अलग क्वेश्चन के जवाब दिए फिर सोचा है एक वीडियो बना देता हूँ तो इसमें शुरुआत कैसे हुई कि स्वामी रामदेव जी का इन्फ्लुएंस पूरे देश में बढ़ रहा था और उसको तोड़ने के लिए फोर्ड फाउंडेशन और ये जो संस्था है उन्होंने अरविंद गांधी को ये सब भ्रष्टाचार के मतलब एक किसी मुद्दे पे जन आंदोलन का झूठा जन आंदोलन का ढकोसला वो जन आंदोलन था ही नहीं वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि ना अन्ना को जन आंदोलन में इंटरेस्ट था ना अरविंद गांधी को जन आंदोलन में इंटरेस्ट था एक जन आंदोलन का नाटक खड़ा करो ताकि स्वामी रामदेव जी का इन्फ्लुएंस कम हो और इसमें लोकपाल का जो कंसेप्ट है वो तो जैसा आपको पता है 1970 से चल रहा है 1970 में लोकपाल की बात हुई थी उसके बाद होती रही है होती रही है तो इंटरनेट पे हम सब कुछ एक्टिविस्ट थे जो कि लोकपाल के ऊपर ड्राफ्ट बना के एक दूसरे को ईमेल से भेजते रहते थे तो इसमें एक लोकपाल का ड्राफ्ट बना था जिसमें वो ड्राफ्ट जन लोकपाल से थोड़ा मिलता-जुलता था पर सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि उसमें राइट टू रिकॉल लोकपाल के क्लॉसेस थे जन लोकपाल नाम था ही नहीं ये बात मैं आपको बता रहा हूँ अक्टूबर 2010 की अक्टूबर नवंबर 2010 के आसपास की जो अन्ना का पहला अनशन हुआ फरवरी 2011 उससे पहले की बात है तो उसमें अरविंद गांधी ने बाद में राइट टू रिकॉल जन लोकपाल के क्लॉसेस निकाल दिए फाड़ के फेंक दिया वो पूरा पेज ही फाड़ के फेंक दिया और उसने सिर्फ जन लोकपाल रखा और दो चार और चीजें ऐड कर दी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्ट न्यायाधीश उसको नौकरी से निकाल सकते हैं जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसमें ये नहीं था उसमें ये था कि जन लोकपाल को सिर्फ पब्लिक ही निकाल सकती है या तो पार्लियामेंट टू थर्ड इम्पीचमेंट से निकाल सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्ट न्यायाधीशों को जन लोकपाल को नौकरी से निकालने का पावर दोगे तो, तो जो ईमानदार जन लोकपाल होगा वो प्रॉब्लम में आ जाएगा पर खैर अब जब जन आंदोलन करना था तो अरविंद गांधी ने अलग-अलग लोगों का संपर्क करना शुरू किया जो कि थोड़ा वृद्ध व्यक्ति हो ताकि वो अनशन पे बैठे तो लोगों के मन में करुणा खड़ी की जा सके, दया खड़ी की जा सके, इमोशनल एक विपिंग शुरू किया जा सके और ज्यादा उसको एक लोगों को इमोशनल किया जा सके इसलिए उन्होंने गुजरात में संपर्क किया चुनी भाई वैद का गांधीयन है 80 पचासी साल के उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनका मुद्दा अलग था उन्होंने कहा नहीं लोकपाल के मुद्दे में मुझे इंटरेस्ट नहीं है उनका मुद्दा ग्राम स्वराज का है फिर बजरंग मुनि करके एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में रायपुर के उनका संपर्क किया उन्होंने भी मना किया क्योंकि उनको भी रुचि ये लोक स्वराज में थी जन लोकपाल में कम थी फाइनली अरविंद गांधी ने अन्ना को बोला और अन्ना को सिर्फ पब्लिसिटी में रुचि है उसको किसी काम में रुचि नहीं है बस उसका फोटो अखबार में आना चाहिए टीवी में आना चाहिए लोग उसके पास घूम के वाह वाह कर रहे हैं उसको लोकपाल क्या है ये भी नहीं पता उसको सीबीआई क्या है ये नहीं पता सीआईडी क्या है ये नहीं पता उसको जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है तो अरविंद गांधी ने कहा उसको कि आप ये अनशन पे बैठो और हम एक एक अखबार में आपका फोटो ला देंगे दूसरे गांधी लोग आपको दूसरे के गांधी नंबर टू के नाम से जानेंगे और उनको लगा चलो बैठ जाते हैं क्योंकि उस समय तो हिंदुस्तान में उनको कोई जानता नहीं था फरवरी 2011 से पहले जो रालेगांव सिद्धि है वहाँ उनको 100 परसेंट लोग जानते हैं वहाँ पे बहुत फेमस है अहमदनगर जिला पूरा अहमदनगर जिला में एक एक आदमी उनको जानता है महाराष्ट्र में कुछ चार पांच परसेंट इंटरेस्ट चार परसेंट चार परसेंट लोग उनको जानते हैं बाकी इंडिया में तो उनको आधे परसेंट लोग भी नहीं जानते थे और उनको पब्लिसिटी चाहिए थी तो वो बैठ गए अनशन पे और पेड मीडिया ने उनको बड़े पैमाने पे पेड मीडिया ने उनको बड़े पैमाने पे कवरेज देना शुरू किया दिन में 24 घंटा अन्ना अन्ना अन्ना और थोड़ा अरविंद गांधी दोनों को साथ में दिखाते थे कभी-कभी कभी-कभी सिर्फ अन्ना को दिखाते थे चार दिन में चार फरवरी 2011 और आठ फरवरी 2011 को उन्होंने अनशन छोड़ दिया उसमें तो वो नंबर वन हीरो बन गए स्वामी रामदेव जी से भी आगे निकल गए मतलब जहां तक पेड मीडिया कवरेज का सवाल है उनके फॉलोअर्स अभी उतने नहीं बने थे लेकिन पेड मीडिया ने उनको ये नंबर वन बना दिया अब उसके बाद अन्ना की प्रकृति में थोड़ा परिवर्तन हो गया ये अरविंद गांधी ने अन्ना में टीम अन्ना में से अन्ना को क्यों नौकरी से निकाल दिया टीम अन्ना में से अन्ना को नौकरी से निकाल दिया उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि उन्होंने अन्ना को बोला कि भाई देखो आप एक्टर हो लेकिन अखबार में अन्ना के फोटो आने लगे तो अन्ना समझने बैठे कि भाई अब से मैं एक्टर तो हूं लेकिन मैं ही प्रोड्यूसर मैं ही डायरेक्टर मैं ही प्लॉट लिखूंगा मैं ही स्क्रिप्ट बनाऊंगा बस अब पूरी पिक्चर है उसका एक एक मैं आ, आ, का डिसीजन मैं लूंगा तो इसमें अन्ना की शुरुआत हुई थी कि वो अरविंद गांधी के कठपुतली थे Arvind Gandhi was puppet master Anna तो एक कठपुतली थे और इसी तरह का रो, रोल लंबे समय तक रखना था और इसमें की होती है पपेट मास्टर में अरविंद गांधी पपेट मास्टर है और अन्ना उनकी कठपुतली थे और अरविंद गांधी फोर्ड फाउंडेशन के कठपुतली है फोर्ड फाउंडेशन उनका पपेट मास्टर है फोर्ड फाउंडेशन जैसे उंगली हिलाते हैं वैसे वो काम करते हैं और फोर्ड फाउंडेशन के ऊपर आते हैं अमेरिका के धनिक जिनमें दो धनिक बहुत शक्तिशाली है एक तो है रॉकफेलर और दूसरा रोथस्टाइल्ड वो दो अकेले नहीं है 500 हजार यूरोप और अमेरिका के धनिक लोग हैं जो कि अधिकतर मल्टीनेशनल कंपनियां अमेरिका की सेना और अमेरिका की सरकार वगैरह कंट्रोल करते हैं अमेरिका के मीडिया भारत के मीडिया कंट्रोल करते हैं और उनकी एक संस्था है फोर्ड फाउंडेशन जो कि ये एनजीओ को कंट्रोल करने का काम करती है और अरविंद गांधी ये फोर्ड फाउंडेशन के अंडर में काम करते हैं और अन्ना अरविंद गांधी की कठपुतली थी लेकिन इतने सारे अखबारों में फोटो आया तो अन्ना अपने आप को तीस मार का समझ में बैठे वो एक मैं ऐसे किस्सा सुनाता हूँ कि एक बिल्ली ने दूसरी बिल्ली को कहा कि वो जो बुलडॉग है बुलडॉग एक बहुत बड़ा शक्तिशाली कुत्ता होता है कल मैं उस बुलडॉग की पिटाई करने वाली हूँ तो दूसरी बिल्ली ने कहा कि भाई तू एक बिल्ली है मैं एक बिल्ली हूँ वो तो बुलडॉग है हमसे सौ गुना ज्यादा शक्तिशाली है तू उसकी पिटाई करेगा पिटाई करेगी तो मुंह की खाएगी तो बिल्ली ने कहा नहीं मैं उस बुलडॉग की पिटाई करके उसको ढेर कर दूंगी देखो अखबार में लिखा है कि मैं शेर हूं कि यानी अखबार जब किसी की तारीफ करना शुरू करते हैं पेड मीडिया वाले तो वो इतनी तारीफ करते हैं कि चूहा समझने बैठता है कि वो शेर है बिल्ली समझने बैठती है कि वो शेर है तो इसी तरह से अरविंद गांधी ये अखबार पेड मीडिया ने जब अन्ना की बड़े पैमाने पे तारीफ करनी शुरू की हर जगह अन्ना अन्ना अन्ना फोटो दिखाना तो अन्ना सचमुच समझने लगे कि अब तो दुनिया उन्हीं के ऊपर चलती है तो आ, और अपने आप को एक तरह का भगवान समझने बैठे तो उन्होंने जब अरविंद गांधी को कहना शुरू किया कि भाई अब तू मेरी कठपुतली है मुझे अनशन पे जाना होगा तब मैं जाऊंगा मैं जो करना होगा वो करूंगा तो अरविंद भाई ने बोला कि भाई अब इसको नौकरी से निकालना पड़ेगा ये एक्टर के लिए मैंने बुलाया था लेकिन ये तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की तरह बर्ताव कर रहा है इसलिए फिर उन्होंने टीम अन्ना से अन्ना को निकाल दिया और टीम अन्ना से अन्ना को निकाला तो फिर नाम भी बदलना पड़ा टीम अरविंद रखा और उसके बाद आईएसी के लेवल पे झगड़ा हुआ और फिर आम आदमी पार्टी शुरू की जो दूसरा मुद्दा था कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी वो भी एक मुद्दा था पर वो मुद्दा किस सेंस में कि यदि पॉलिटिकल पार्टी पूरी की पूरी अन्ना के नेतृत्व में बनती तो अन्ना को कोई प्रॉब्लम नहीं था अन्ना जब बोलते हैं ना कि मुझे पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी तो वो खट्टे अंगूर वाली बात है वो अन्ना चाहते थे कि पूरी पॉलिटिकल पार्टी उनके कंट्रोल में बने और वो पूरी पावर में आए और वो वो तय करेगी किसको एमपी की टिकट मिलेगी किसको कौन मिनिस्टर बनेगा कौन पीएम बनेगा वो सब तय करे और जब अरविंद गांधी ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी बनेगी लेकिन उसमें अन्ना अधिक से अधिक एक प्रचारक के काम करेंगे बैंड बाजा बजाने का काम करेंगे पर सारा डिसीजन जो है कि टिकट किसको मिलेगा पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा पार्टी किस मुद्दे को प्राथमिकता देगी वो सारा डिसीजन फोर्ड फाउंडेशन लेगा यानी फोर्ड फाउंडेशन अरविंद गांधी के थ्रू लेगा तो वो अन्ना को पसंद नहीं आया कि भाई मैं नंबर वन मैं इस नई पार्टी में नंबर वन चाहता हूँ और अरविंद गांधी ने बोला नहीं नंबर वन मैं रहने वाला हूँ और इसलिए फिर अन्ना ये कहते घूम फिरते हैं कि उन्हें पॉलिटिकल पार्टी का रास्ता मंजूर नहीं है भाई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं बनानी है तो करना क्या है पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स में दो ही चीजें होती है या तो जन आंदोलन या तो इलेक्शन और तो कोई तीसरा ऑप्शन होता है तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह वाला पर वो जन आंदोलन वाला का एक्सट्रीम पॉइंट हो गया वो जन आंदोलन का एक हिस्सा है जन आंदोलन है तो उसके ऊपर से महात्मा उधम सिंह महात्मा भगत सिंह आते हैं जन आंदोलन नहीं है तो महात्मा भगत सिंह महात्मा उधम सिंह के आने का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं होता तो जन आंदोलन तो करना नहीं था उनको अब मैं इस पे आता हूं कि इन दोनों में से किसी के जन आंदोलन करने की नीयत नहीं थी और वो मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं कि जब जन लोकपाल का प्रचार हो रहा था तब मैंने कहा Jan Lokpal with right to recall होना चाहिए वो दरखास्त उनके कार्यकर्ताओं ने उनको clause by clause line by line expel की एक्सप्लेन की पर वो दोनों ने मना कर दिया कि नहीं राइट टू जन लोकपाल का कानून आएगा और उसमें राइट टू रिकॉल जन लोकपाल नहीं होगा भ्रष्ट न्यायाधीशों को लोकपाल को निकालना होगा तो निकाल देगा वो उनके सेक्शन फाइव या सेक्शन सिक्स में लिखा है सेक्शन सिक्स में लिखा है जन लोकपाल के कि भ्रष्ट न्यायाधीश जन लोकपाल को कभी भी नौकरी से निकाल सकते हैं पर आम आदमी पटवारी की कचहरी में जाके या एस एम एस भेज के बीस करोड़ नागरिक किसी ग्यारहवें बारहवें व्यक्ति को जन लोकपाल नहीं बना पाएंगे वो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया तो मैंने कहा ठीक है चलो जन लोकपाल का प्रचार करते हो Jan Lokpal with no right to recall करते रहो मैंने सुझाव दिया अरविंद भाई को कि आप लोगों को बोलते हो कि पोस्टर लेके नारेबाजी करो, पोस्टर लेके रैलियां निकालो, ये करो, वो करो। मैं एसएमएस कैंपेन शुरू कर रहा हूं कि जिसमें मैं एमपी को ऑर्डर भेजता हूं कि जैसे मैंने जो एसएमएस से ऑर्डर भेजा मैं आपको एक्जेक्टली पढ़ के सुनाता हूं जो मैंने अपने एमपी किरीट सोलंकी को एसएमएस से मैंने ऑर्डर भेजा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं श्री किरीट भाई मेरे सांसद का नाम I am Rahul Mehta voter number DDV उसके बाद मेरा वोटर नंबर है अहमदाबाद वेस्ट मेरी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का नाम constitution makes duty of every citizen to send necessary orders to MP via SMS M हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर एक नागरिक का फर्ज है कि वो अपने एमपी को जरूरी आदेश एसएमएस से भेजे मैं आपको I am ordering you to pass Lokpal law with right to recall Lokpal clauses so that citizen can directly recall corrupt Lokpal without having to file any case against him यानी कि देश के मैं आपको एसएमएस से ये हुक्म दे रहा हूं कि आप लोकपाल का कानून पार्लियामेंट में पास करो और उसमें राइट टू रिकॉल लोकपाल के क्लॉज हो ताकि नागरिक उसके खिलाफ अदालत में जाए बिना भ्रष्ट लोकपाल को निकाल सके और जो अलग मैंने उसको ड्राफ्ट भेजा है उसमें सब लिखा है ऐसा नहीं कि दो और नागरिकों के कहने से लोकपाल निकल जाएगा 20 करोड़ नागरिकों कहने से एक लोकपाल जाएगा और दूसरा लोकपाल आएगा और यदि 20 करोड़ और कि यदि किसी 30 करोड़ किसी व्यक्ति को 30 करोड़ का अप्रूवल मिल जाता है तो वो 20 करोड़ वाला जाएगा और 30 करोड़ वाला जाएगा और नागरिक स्वीकृति कैसे देंगे वो सब अलग-अलग वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है तो मैंने अरविंद भाई को कहा कि भाई मैं अपने एमपी को एसएमएस से ये ऑर्डर भेज रहा हूं आप कार्यकर्ताओं को कह सकते हैं कि वो भी एसएमएस से एमपी को ऑर्डर भेजे कि भाई pass Lokpal law with no right to recall Lokpal clauses उनको राइट टू रिकॉल लोकपाल नहीं चाहिए तो ठीक है चलो उतना एक्सेप्ट कर ले पर उन्होंने साफ साफ मना किया कि इस तरह का कोई एसएमएस कैंपेन वो नहीं चाहते एसएमएस कैंपेन यानी कि नागरिक सांसद को एसएमएस से ऑर्डर भेज रहे हैं इस तरह का कैंपेन का उन्होंने विरोध किया और दिल्ली में जब बिजली पानी का आंदोलन हो रहा था तभी भी उन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहूंगा कि एमएलए को एसएमएस से ऑर्डर मत भेजना और उन्होंने कार्यकर्ताओं को यही कहा और फिर मैंने कार्यकर्ताओं की बात की कि भाई एमएलए को एसएमएस से ऑर्डर भेजने में नुकसान क्या है तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे नेता अरविंद भाई ने मना किया हम नहीं भेजने वाले तो वो जन आंदोलन चाहते ही नहीं थे यदि एसएमएस भेज के जन आंदोलन शुरू किया होता तो करोड़ों की संख्या में लोग एसएमएस भेजते तो उससे जन आंदोलन आगे बढ़ता तो उससे भगत सिंह और उधम सिंह के आने की शक्यता बढ़ जाती तो अन्ना को जन आंदोलन में इंटरेस्ट था ही नहीं तो पॉलिटिक्स में दो ही चीजें होती है जन आंदोलन या तो पॉलिटिकल पार्टी तो इससे जाहिर है कि अन्ना को पॉलिटिकल पार्टी में इंटरेस्ट था तो वो क्यों आम आदमी पार्टी में नहीं जुड़ रहे क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का नंबर वन मैं रहूंगा मैं तय करूंगा किसको टिकट मिले मैं तय करूंगा कि आ, पार्टी का प्रोग्राम क्या होगा और वो अरविंद गांधी ने मना किया कि नहीं आप हमारी कठपुतली थे आपको मैं सिर्फ अनशन करने के लिए लाया था आप बुजुर्ग हो आप अनशन पर बैठोगे तो लोगों के मन में ज्यादा सहानुभूति आप एक्टर थे आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनने की कोशिश मत करो आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनने की कोशिश करते हो चलो मैं आपको फिल्म से निकाल देता हूँ और उन्होंने फिल्म से निकाल दिया फोर्ड फाउंडेशन ने भी देखा कि यह आदमी एक्टिंग के लायक था अब एक्टिंग करने को तैयार नहीं है और डायरेक्टर बनना चाहता है चलो इसको डायरेक्टर की नौकरी नहीं देनी है निकालो इसको और आप देखोगे कि अभी पेड मीडिया में अन्ना का कवरेज कितना बंद हो गया आप दो तीन दो साल पहले का फरवरी महीने का टाइम्स ऑफ इंडिया देख लो आपको नेट पे मिल जाएगा फरवरी महीने का फरवरी 2011 का टाइम्स ऑफ इंडिया आप नेट पे देखो आप चार पांच पन्ने देखोगे तो रोज अखबार में एक दो एक दो अन्ना की फोटो थी और एक महीने का तीस दिन का अखबार देख लो तो मिनिमम बीस दिन अन्ना की फोटो दिखेगी आज तुम पिछले 30 दिन का टाइम्स ऑफ इंडिया देख लो शायद एक या दो दिन में भी अन्ना की फोटो शायद सिक्स सेवन पेज के बीच में कहीं छोटी सी फोटो छप जाए पासपोर्ट साइज की तो बहुत हो गया क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक थे उन्होंने अन्ना का कवरेज बंद करा दिया तो इससे साफ जाहिर होता है कि अन्ना को जो पब्लिसिटी मिली थी फरवरी के महीने में वो ऑर्गेनिक और नेचुरल नहीं थी वो पेड थी भाई ऑर्गेनिक और नेचुरल होती तो अभी तक टिकी होनी चाहिए थी यदि टाइम्स ऑफ इंडिया इसलिए आपकी फोटो छाप रहा था क्योंकि उसके आपकी अन्ना की फोटो छापने से उसकी बिक्री बढ़ रही थी तो आज क्यों अन्ना की फोटो नहीं छाप रहा आज भी बिक्री बढ़नी चाहिए अन्ना की पॉपुलैरिटी और कम हो गई है तो क्यों कम हो गई वही अन्ना थे जो दो साल पहले थे वही तो अन्ना आज है और जो जो मैं लोगों को जब कहता हूं कि भाई टीवी वालों को पैसा दिया जा रहा है कि वो अरविंद गांधी को दिखाए तो अक्सर कहते हैं नहीं वो अरविंद गांधी को इसलिए दिखा रहे क्योंकि टीवी की टीआरपी बढ़ रही है तो मैंने कहा कि वो टीआरपी अन्ना से क्यों नहीं बढ़ रही अब अन्ना से उस समय भी कोई टीआरपी नहीं मिल रही थी आज भी टीआरपी नहीं हुई उस समय पैसा मिल रहा था अन्ना को दिखाने के लिए इसलिए अन्ना को दिखाया आज मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं दिखा रहे अब ये जो सारा नाटक हो रहा है अरविंद गांधी का और अन्ना का इसमें हम कार्यकर्ताओं को क्या सीखना है हम कार्यकर्ताओं को ये सीखना है कि हम यदि किसी व्यक्ति के पीछे भागते रहेंगे तो हम भागते ही रहेंगे 1984 में राजीव गांधी की तस्वीर दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाया गया 1984 में लोगों को राजीव गांधी से बहुत उम्मीद थी आप किसी 40-50 साल के कार्यकर्ता को व्यक्ति से पूछना कि उस समय लोग राजीव गांधी से इतनी उम्मीद रखते थे इतनी उम्मीद रखते थे सारी उम्मीद पानी में चली गई वो अलग बात है पर वो सोचते थे कि हाँ ये आदमी आ गए ये भारत का हुलिया नक्शा सब कुछ एक महीनों में कुछ एक साल में बदल देगा और सब पानी में गया उसके बाद जो धनिक वर्ग है या बीजेपी वाले हैं जो भी उन्होंने वाजपेयी का फोटो दिखा के 1980 में लोगों को बेवकूफ बनाया आज से 15 साल पहले की बात है आप में से अधिकतर लोगों की उम्र 25 30 के आसपास होगी 25 से कम होगी इसलिए आपको 15 साल पहले की पॉलिटिकल घटनाएं पता नहीं होगी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी 45 और 50 के बीच की उम्र के व्यक्ति को पूछना कि आज से पंद्रह साल पहले वाजपेयी से और बीजेपी से आपको क्या-क्या उम्मीदें थी तो वो आपको बताएंगे कि हमें तो इतनी सारी उम्मीदें थी कि राम जन्मभूमि मंदिर बन जाएगा कृष्ण जन्मभूमि बन जाएगा काशी विश्वनाथ का मंदिर बन जाएगा ये अहमदाबाद का नाम कर्णावती हो जाएगा फिर ये बांग्लादेशियों को खदेड़ देंगे वो आपको उम्मीदों की एक लंबी भय भूख और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा वाजपेयी ने कहा था कि वो दो साल के अंदर भय भूख और भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे दो साल की उन्होंने प्रॉमिस किया था उसके बाद और आज आप उनसे पूछो कि भाई कितनी उम्मीदें खरी निकली या आज वाजपेयी के बारे में क्या है तो कि भाई वाजपेयी ने के नाम पे हमको लोगों ने धोखा दिया या तो वाजपेयी से उम्मीदें थी वो खरी नहीं निकली अब 2011 आया तो अन्ना का फोटो दिखा के टाइम पास करवा दिया टाइम वेस्ट करा दिया लोगों को दो साल बेवकूफ बना दिया अब अरविंद गांधी का फोटो देख के और दो साल टाइम पास कराने की बात चल रही है मोदी का फोटो दिखा के टाइम पास कराने की बात कर रहे हैं कि भाई कानून बदलने की बात छोड़ दो जो राजीव दीक्षित ने व्यवस्था परिवर्तन की बात की थी वो अभी फाड़ के फेंक दो पूरा का पूरा एजेंडा बस एक साल तक सिर्फ मोदी का गुणगान गाओ एक साल तक सिर्फ अरविंद गांधी के गुणगान गाओ दो में से एक आदमी मई 2014 में प्रधानमंत्री बनेंगे दो किसी न किसी को तो बनना है शायद मोदी अभी तो यही लगता है उन्हीं का माहौल लगता है तो और बस साल दो साल में सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे कोई कानूनों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं थी कोई व्यवस्था परिवर्तन के एजेंडा पे के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं अच्छे कानूनों का प्रचार करने की जरूरत नहीं है ये सारे जो प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स के जुडिशरी के वही क्यों तीन करोड़ केस इतने सालों से लटके हमारे अदालत में अमेरिका में ऑन एन एवरेज एक क्रिमिनल केस का जजमेंट आता है महीने दो महीने में सिविल केस का जजमेंट आता है तीन चार महीने में चाइना के अंदर क्रिमिनल केस का जजमेंट आता है एक दो महीने में सिविल केस का जजमेंट आता है तीन चार महीने में और क्यों यहाँ पे पांच पांच साल तक जजमेंट नहीं आते तो कि ये सारी समस्याओं पे कोई सोचने की जरूरत नहीं है इसके उपाय पे मत सोचो बस या तो मोदी का फोटो हाथ में मोदी जी का फोटो हाथ में उठाओ या तो अरविंद गांधी का फोटो हाथ में उठाओ और नारेबाजी करते रहो सुबह आठ बजे से लेकर शाम को रात को आठ बजे तक और रैलियां निकालते रहो और फेसबुक पे उनके जितने फोटो दिखे वो शेयर करते रहो तो इससे ये टाइम पास हो जाएगा और फिर हालत तो कोई नारेबाजी से या तो रैली निकाल से या पोस्टर लेके घूमने से तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले क्या मैं ना मैं दो लाख कार्यकर्ता है और दो लाख कार्यकर्ताओं को मैं बोलता हूं कि सुबह आठ बजे से शाम को आठ बजे तक नारे लगाओ तो उससे क्या वो तीन करोड़ कोर्ट केस में पेंडिंग पड़े हैं उनका क्या जजमेंट आ जाएगा साल दो साल तीन साल में नारेबाजी करने से तो वो सारे टाइम पास करने की बात है जिससे हमारे देश के दुश्मनों को फायदा हो रहा है फायदा कैसे हो रहा है कि हम यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं नेता का फोटो लेके घूम रहे हैं नारेबाजी कर रहे हैं रैलियां निकाल रहे हैं वहां पे वो लोग इस तरह की time pass time waste activity relatively कम कर रहे हैं अमेरिका है चाइना है वो दिन भर दिन अपने कानूनों में सुधार ला रहे हैं उनके लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार ला रहे हैं तो और यहाँ पे हमारी गाड़ी ठप पड़ी है और वहाँ पे उनकी गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और इसलिए एक बार जब इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उनकी सेना यहाँ आके हमला करके सब कुछ तबाह कर देगी और हमें उनका गुलाम बनने की नौबत आ जाएगी हम जो प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं वो बहुत सुपरफिशियल है वो मेरे दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि अमेरिका के इंजीनियर ने माइक्रो प्रोसेसर और ये सारे चिप बनाए चीन के टेक्नीशियन लेबर ने उसको सस्ते दामों पे मैन्युफैक्चर करने शुरू किए जिसकी वजह से इंडिया में 20-30 करोड़ मोबाइल आ गया मतलब काम अमेरिकन ने किया चाइना ने किया हमने तो सिर्फ पैसा देके वो मोबाइल खरीदा और वो मोबाइल की वजह से जो ग्रोथ हुआ उसकी क्रेडिट यहाँ पे कोई नेता ले रहा है कोई टेलीकॉम्युनिकेशन मिनिस्टर ले रहा है देखो मेरी वजह से ये टेलीकॉम रेवोल्यूशन आ गया टेलीकॉम या जो भी इस तरह से दूसरे की भाई विदेश में ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की की कोरिया ने ऑटोमोबाइल्स बनाने शुरू किए ताइवान ने बनाने शुरू किए स्पेयर पार्ट्स चाइना भी बहुत अच्छे ऑटोमोबाइल्स बना रहा है और सस्ते बना रहा है चाइना की क्वालिटी थोड़ी खराब है लेकिन सस्ते बना रहा है उसकी वजह और हिंदुस्तान ने क्या किया बड़े पैमाने पे जमीन को विदेशियों को बेचा एनआरआई को बेचा उससे पैसा आया उससे गाड़ियां इंपोर्ट हो रही है और उस गाड़ियों को ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरह दिखा के कोई भी फिर वो मनमोहन सिंह अपनी क्रेडिट ले रहा है कि देखो भाई मेरे मेरी वजह से कितना ग्रोथ हो गया उसके पहले वाजपेयी था वाजपेयी में टाइम भी कोई रियल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हुआ ही नहीं था यही हो रहा था कि थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हुआ था पर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को निकाल दो तो कोई रियल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ इंडिया का हुआ ही नहीं है कोई भी हमारी प्रोडक्शन की चीज बाहर नहीं जा रही ये सब चीज मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा पर मेरा कहने का पॉइंट यह है अभी कि आप ये अन्ना के पीछे या अरविंद गांधी के पीछे या नेताओं के पीछे भागते रहोगे तो उनके अंदर अंदर के जो दावपेच होते रहे उसको वो पेड मीडिया में बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं जैसे अन्ना था क्या वो एक अनशन करने वाला था न उसको कोई कानून की सूद थी उसके लोकपाल को कितने पेज थे वो भी पता नहीं होंगे कि ये 40 पेज का ड्राफ्ट है या 24 पेज का ड्राफ्ट है उसने कभी ड्राफ्ट पढ़ने की कोशिश भी नहीं की थी वो ड्राफ्ट तो अंग्रेजी में था उसका मराठी या हिंदी में ट्रांसलेशन भी नहीं हुआ था और वो कह रहा था कि जन लोकपाल से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा दूर हो जाएगा भाई तुमने तो ड्राफ्ट का दो पैराग्राफ तो पढ़ा नहीं है क्या देख के बोलते हो कि ये कानून पार्लियामेंट पास करेगी उससे भ्रष्टाचार कम हो जाएगा तो वो एक कठपुतली थी उसने बोला कि नहीं कल से मैं एक्टर नहीं मैं डायरेक्टर बनूंगा अन्ना ने उसको और अरविंद भाई ने अरविंद गांधी ने उसको नौकरी से निकाल दिया और अंत में हुआ क्या उन लोगों के जो भी उन्होंने और भी पछाड़ एक दूसरे को की एक दूसरे को कभी गले लगाया कभी सपोर्ट दिया कभी एक दूसरे से जुदा हो गए पूरी अच्छी पिक्चर हो गई पर तुम्हारा तो दो साल का एंटरटेनमेंट हो गया दो साल का टाइम पास हो गया ना देश के कानून सुधरे ना देश के कानून कैसे सुधरे उसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेताओं के पीछे भागना बंद करो और आप जो भी कार्य करता है कौन कौन से कानूनों से देश की परिस्थिति सुधर सकती है उस पर फोकस करो धन्यवाद